परम पिता परमात्मा का स्मरण सृष्टि का रचयिता परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ प्यारे परमात्मा को किस प्रकार से हम ध्यावें परमात्मा की स्तुति कैसे करें उसका एक प्रकार आज के मंत्र में स्वयं परमात्मा ने बताया ये मंत्र यजुर्वेद के तेरहवें अध्याय का चौथा मंत्र है और महर्षि दयानंद ने आर्यभिविनय के द्वितीय प्रकाश में इसे बीसवें क्रम पर रखा है मंत्र प्रसिद्ध है हम स्तुति प्रार्थना में इसे प्रतिदिन बोलते हैं हिरण्य गर्भ समवर्तता अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत जिस परमात्मा की हमें स्तुति करनी है वो कितना विराट है कितना विस्तृत है जो हमारा रक्षक है वो कितना बड़ा रक्षक है तो सर्वप्रथम कहा हिरण्य गर्भ समवर्तता अग्रे अग्रे मतलब आगे पहले सर्वप्रथम किससे पहले इस सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले हिरण्यगर्भ समवर्तता हिरण्यगर्भ सबोर से विद्यमान था वर्त रहा था सक्रिय था ये हिरण्यगर्भ परमात्मा है सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व भी वो विद्यमान था और हमारे हित के लिए हमारी रक्षा के लिए सक्रिय था उसकी योजना थी उसका इच्छण था कि मैं सृष्टि को निर्माण करूं सृष्टि को बनाऊं तो परमात्मा को यहां पर हिरण्य गर्भ शब्द से कहा गया महर्षि ने अर्थ किया हिरण्य अर्थात जो सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थ है हिरण्य जैसे कांतिमय होता है चमकीला होता है प्रकाशमान होता है प्रकाश की उपस्थिति में वो अग्नि के समान दिखाई देता है प्रकाशित वस्तु के समान दिखाई देता है इसी प्रकार इस संपूर्ण जगत में जितने भी प्रकाशमान पिंड हैं तारे हैं वे सब और उनके साथ साथ उनका परिवार भी आ ही जाएगा इन सब का जो गर्भ है आधार है रक्षक है वह परमात्मा ये सारे के सारे परमात्मा के गर्भ में विद्यमान है वैज्ञानिकों की दृष्टि इन सब लोक लोकांतरों पर है अनुसंधान कर रहे हैं बहुत रुचि रखते हैं उसकी व्यापकता से अचंभित हैं हम भी वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ आर्य की भावना रहेगी ये जितना भी दिखाई दे रहा है ये परमात्मा के अंदर विद्यमान है अर्थात आर्य इनको देखता हुआ भी इन सब को परमात्मा में भी देखता है ये सब परमात्मा में विद्यमान है वो परमात्मा हिरण्य गर्भ है वो सबसे पहले था हिरण्य का एक अर्थ हिरणमय हिरण्यमय विज्ञानमय जो ज्ञान का सागर है ज्ञान स्वरूप है ऐसा वो परमात्मा हिरण्य भी वही है और गर्भ भी वही है उसका आधार है उसका रक्षक है ऐसा वो परमात्मा अग्रे समवर्तता पहले से विद्यमान था मनुष्यों के मन में ये विचार आता है अनेक चिंतक सोचते हैं कि इस संसार में ईश्वर की उत्पत्ति किसने की ईश्वर का भाव कैसे इस समाज में प्रचलित हुआ तो अनेक कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो कुछ अधिक बुद्धिमान थे चतुर थे समाज को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने ईश्वर नाम के एक तत्व की परिकल्पना की कल्पना की जिसके डर से भय से मनुष्य नियंत्रित रहे नीति नियमों का पालन कर सके और समाज में व्यवस्था हो समाज की व्यवस्था के लिए वो एक कल्पित पदार्थ है लेकिन वेद स्वयं कहता है इस सृष्टि की रचना से पूर्व भी जब ये कोई मनुष्य नहीं थे तब भी वो था वो तो पहले से विद्यमान था और इसके बनने के बाद भी ये सारा का सारा उसी में विद्यमान है और वह परमात्मा भूतस्य जाता पति एक आसीत ये जो समस्त संसार उत्पन्न हुआ है प्राणी जगत है उस का वो एक ही पति था स्वामी था रक्षक था आज भी है और आगे भी रहेगा वो सदा रक्षक है लेकिन परमात्मा को विशेष रूप से भूतकाल में कहा जा रहा है कि वो सबका रक्षक था अर्थात इस सृष्टि की रचना से पूर्व ही परमात्मा में रक्षा का भाव था उसने हम सबकी रक्षा को ध्यान में रखते हुए ही ये सृष्टि बनाई है सृष्टि को बनाने के बाद में कि ये सब उत्पन्न हो गए हैं अब मुझे इनकी रक्षा करनी है उसके मन में रक्षा का भाव बाद में आया हो ऐसा नहीं है वो पहले से रक्षक था वो ज्ञानमय था और उसने सारी व्यवस्थाएं की ही ऐसी हैं जिससे हम सबकी रक्षा हो सके हमारी रक्षा को ध्यान में रखते हुए ही उसने इस संसार को बनाया है और ये रक्षा करने वाला वो अकेला एक था पति एक आसित दूसरा कोई नहीं था उस समय न हमारे माता थे न पिता थे न गुरुजन थे न राजा थे कोई नहीं था ये सब रक्षक जो आज दिखाई देते हैं ये तो अभी के हैं उस समय केवल वही परमात्मा हमारा रक्षक था आगे कहा सदाधार पृथ्वीम द्याम उत इमाम वही परमात्मा इन सब का आधार है किन किन का इस पृथ्वी का जिस पर हम रहते हैं हमें अपना आधार ये पृथ्वी दिखाई देती है लेकिन वो परमात्मा इसका भी धारण करने वाला है इसको भी वो ही धर रहा है और ये सूर्य आदि लोक जो हमें धारण करते प्रतीत होते हैं जो हमारा धारण करते हैं और इस द्व्यूलोक जितने भी प्रकाशमान लोक लोकांतर हैं उन सबको भी वही परमात्मा धारण कर रहा है उसी ने इनको धारण कर रखा है अर्थात पृथ्वी से लेकर के आगे तक जितना पूरा विस्तार है उसमें विद्यमान समस्त चीजों को वही परमात्मा धारण कर रहा है ये सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं हम अपने व्यवहारों में परिवार परिवार में अलग अलग व्यवस्था देखते हैं अलग अलग संचालन करता देखते हैं अलग अलग पति यानी रक्षक देखते हैं अलग अलग धारण करने वालों को देखते हैं और ये सब देखते हुए हमारे मन में ये भाव जगता हो कि यहां का धारण करने वाला कोई और और दूसरी जगह का कोई और घर से आगे जब हम निकलते हैं तो ग्राम नगर में भी व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं राज्यों देशों की व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं अलग अलग संविधान होते हैं और इस पृथ्वी का पूरे का परमात्मा बड़ा है तो हम मान लें कि इस पूरी पृथ्वी को वो धारण कर रहा है चला रहा है लेकिन आर्य को इसके आगे भी जाना है आगे भी सोचना है कि वही एक परमात्मा इन सब लोक लोकांतरों को चला रहा है वही इनको एक धारण कर रहा है उसी के नियम और अनुशासन में ये सब चीजें चल रही हैं इतना विस्तार रूप वो अपने मन में रखता है परमात्मा को इतने बृहत रूप में देखता है आर्य को परमात्मा इसी प्रकार दिखना चाहिए मन में ऐसा ही रहना चाहिए कि वो न केवल परमात्मा मेरा पति है मेरा स्वामी है मेरा रक्षक है बाकी सारे का रक्षक है भक्त लोग परमात्मा की भक्ति करते हुए परमात्मा के स्वरूप को यदि गलत देख लें गलत जान लें तो भक्ति ठीक नहीं होगी और परमात्मा के स्वरूप को ठीक जानते हुए भी यदि भक्ति ठीक तरीके से नहीं होगी तो भी दोष हो जाएगा ऐसे उस परमात्मा के लिए मैच लिखते हैं से चेतो मनुष्यों जो तुमको सुख की इच्छा हो तो एक निराकार परमात्मा की यथावत भक्ति करो अन्यथा तुमको कभी सुख न होगा परमात्मा को महर्षि ने जोर दे के विशेषण कहा एक वो एक परमात्मा है पतिरेक आसित और कहा उस निराकार परमात्मा की विशेषण दूसरा दिया निराकार ये परमात्मा का स्वरूप ठीक जान करके और फिर हम उसकी उपासना करें भक्ति करें और फिर आके कहा यथावत भक्ति करो जो परमात्मा को साकार मान करके भक्ति करते हैं वो पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं कर सकते जो परमात्मा को निराकार मान भी लेते हैं समझ लेते हैं कि साकार वस्तु तो इस सारे जगत को ब्रह्मांड को चला ही नहीं सकती उसकी रक्षा ही नहीं कर सकती यदि कोई साकार वस्तु इस सबकी रक्षा कर रही होती तो वो कितनी बड़ी होती और वो उसी के अंतर्गत ये सब दब जाते तो इस सब की रक्षा करने वाला तो निराकार ही हो सकता है तो परमात्मा का स्वरूप ठीक जान भी लिया लेकिन भक्त जब प्रार्थना करता है तो अपने को केंद्रित रख करके करता है मेरे लिए जो हितकर है उसकी कामना करता है अपने हित की कामना करना प्रार्थना करना गलत नहीं है लेकिन भक्त परमात्मा को केवल अपने लिए समझ करके प्रार्थना करने लगता है मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं और परमात्मा को मेरी ही सुननी चाहिए और वो इसमें ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं कर लेता है जिनसे दूसरों का अहित होता हो दूसरों का लाभ नहीं हो वो दूसरों को छोड़ करके दूसरों की उपेक्षा करके अपना हित देखने लगता है जैसे कि कोई राजा से या शासक से कामना करने लगे बिजली सब जगह सब स्थानों पर सदा नहीं आती और कोई काम करने लगे कामना करने लगे कि हमारे गांव में शहर में पूरे दिन भर आए दूसरी जगह आए ना आए कोई बात नहीं क्योंकि बिजली तो विद्युत तो सीमित है पानी है तो हमारे मोहल्ले में हमारे घर में पानी ठीक आता रहे बाकी में कैसा भी आए मेरे कुएं में पानी रहे दूसरे में जैसा भी रहे अपने को केंद्रित करके हम प्रार्थना करते हैं कर सकते हैं किंतु हमारी उस प्रार्थना में अन्यों की उपेक्षा अन्यों को भूलना नहीं होना चाहिए जब आर्य परमात्मा को संपूर्ण सृष्टि का रचयिता पालक समझ लेता है कि परमात्मा केवल मेरा ही पालन नहीं कर रहा है औरों का भी पालन कर रहा है उसके नीति नियम उसकी कृपा उसकी दया केवल मेरे लिए ही नहीं है उसके लिए सब समान है वो औरों का भी ध्यान रखता है जब परिवार में कोई बच्चा इस बात का ध्यान रख लेता है कि ये खाने की चीज जो आई है थोड़ी मात्रा में वो सबको बटनी चाहिए क्योंकि जो माता पिता है वो सबके माता पिता है सब बच्चों के माता पिता है अब उसकी कामना इच्छा बदल जाएगी और उसको जितना मिलेगा जैसा मिलेगा माता पिता के द्वारा उसमें वो संतुष्ट रहेगा दुखी नहीं होगा लेकिन यदि केवल अपनी कामना पे रहता है तो वो अधिक से अधिक चाहेगा सब मेरे को मिल जाए अधिक मेरे को मिल जाए दूसरों को मिल गया तो उसको दुख हो जाएगा बराबर भी दूसरों को मिला तो उसको दुख हो जाएगा तो आर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संपूर्ण जगत का स्वामी परमात्मा को मानता है और इसके साथ ये बात जुड़ी हुई है कि परमात्मा मेरे लिए जो भी कर रहा है वो मेरा हितैषी होते हुए वो अन्यों का भी हितैषी है उन सबको ध्यान में रखते हुए वो मेरे को कुछ चीज देता है उसने जो नियम बनाए हैं जो व्यवस्थाएं दी हैं वो सबको ध्यान में रखते हुए दी हैं केवल मेरी दृष्टि से नियम नीति नहीं बनाए हैं तो जब आर्य को परमात्मा ऐसा दिखाई देता है तो उसकी हर व्यवस्था उसे उचित दिखाई देती है उसका हर सहयोग उसे उचित दिखाई देता है और उसी परमात्मा की उपासना में उसे सुख दिखाई देता है कस्मई देवाय हविषा विधेमा हम ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा की क ये शब्द सुख के लिए भी आता है और प्रजापति के लिए भी कहा गया है वो प्रजा का पालक है वो सुख स्वरूप है ऐसे उस परमात्मा की हम भक्ति करें हविषा विधेमा महर्षि इसके लिए लिखते हैं कि उस प्रजापति जो परमात्मा उसकी पूजा प्रजापति जो परमात्मा उसकी पूजा आत्मादि पदार्थों के समर्पण से यथावत करें परमात्मा की पूजा परमात्मा का सम्मान किस प्रकार करें तो उसमें सबसे मुख्य द्रव्य है अपनी स्वयं की आत्मा आत्मा यदि परमात्मा के प्रति समर्पित है तो ये शरीर तो परमात्मा के लिए समर्पित हो ही जाएगा ये इंद्रियां और मन परमात्मा के लिए समर्पित हो ही जाएंगे ये परमात्मा की आज्ञा पालन में लग ही जाएंगे और यदि हम इन बाह्य चीजों को थोड़ा सा परमात्मा के लिए प्रस्तुत कर दें अंदर से ना हो तो परमात्मा की पूर्ण भक्ति नहीं होगी तो आत्मा स्वयं हम उस परमात्मा के लिए करें महर्षि आगे लिखते हैं उससे भिन्न की उपासना लेश मात्र भी हम लोग ना करें यहां उपासना का मतलब है जो हमारा आराध्य है जो हमारा मान्य है जो श्रद्धेय है सर्वोपरि परमात्मा जो हमारा लक्ष्य है परमात्मा ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए संसार के किसी भी पदार्थ को किसी भी व्यक्ति को पाने के लिए उसकी सन्निधि के लिए हम जो भी प्रयत्न करें उन सब का लक्ष्य परमात्मा को पाना हो तो ये परमात्मा की भक्ति होगी और परमात्मा की भक्ति परमात्मा की उपासना करना दूसरे की न करना इस वाक्य का ये अर्थ नहीं है कि हम किसी दूसरी वस्तु का खाद्य पदार्थ आदि का वस्त्रों का उपयोग ही ना करें हम किसी अन्य मनुष्य का आदर ही ना करें ब्राह्मण का क्षत्रिय का विद्या देने वाले का रक्षा करने वाले का हम कुछ आदर ही ना करें ये तात्पर्य नहीं है उनका आदर भी हम इसलिए करें ताकि हमें परमात्मा को पाना है इनका आदर परमात्मा को पाने के लिए हम कर रहे हैं यानी उसमें भी हमारा लक्ष्य एक परमात्मा ही रहे तो जब ये दृष्टि रहेगी तो हम उसी वस्तु का उपयोग करेंगे जो परमात्मा के द्वारा स्वीकृत है हम उसी वस्तु का लाभ उठाएंगे जो परमात्मा ने हमारे लिए निर्धारित की है हम उसी शैली से उसका लाभ उठाएंगे जैसा परमात्मा ने निर्धारित किया है और हम उन्हीं व्यक्तियों से लाभ उठाएंगे उन्हीं व्यक्तियों का आदर करेंगे जिनका आदर करना परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है हम उन्हीं व्यक्तियों की सन्निधि करेंगे जिनकी सन्निधि परमात्मा की प्राप्ति में लाभदायक है तो उपासना उपयोग हर वस्तु का हमें करना है जो जो हितकर है जिस रूप में हितकर है हमें हर उस व्यक्ति का लाभ उठाना है हर उस व्यक्ति से सहयोग करना है जो कि परमात्मा के निर्देशों के अनुरूप चलता है और उस सबका लक्ष्य हमारा जब परमात्मा रहेगा तो हम कह सकते हैं कि हम केवल परमात्मा की उपासना कर रहे हैं अन्य किसी की उपासना नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब हमारा व्यवहार या प्रयोग उपभोग परमात्मा की आज्ञा के विपरीत होने लगेगा तो हमें तत्काल प्रतीति होगी कि ये उपासना परमात्मा की नहीं हो रही है ये व्यक्तियों की होने लग गई है ये उन वस्तुओं की उपासना होने लग गई है और जो जो परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप उपयोग है उस उपयोग को करते हुए हम आशंकित में ना रहें कि ये तो हम जड़ वस्तु की उपासना करने लग गए हम तो भोजन करने लग गए हम तो अन्य व्यक्तियों से मिलने लग गए हमने तो अन्य व्यक्तियों को समय दे दिया एकांगी जब उपासना होने लगती है अति में जब चला जाता है व्यक्ति जब इन वाक्यों का ये अर्थ समझ लेता है कि परमात्मा के अलावा तो किसी को देखना तक नहीं है अन्य किसी का तो विचार तक नहीं करना है तो व्यक्ति का व्यवहार विकृत हो जाएगा ये परमात्मा ऐसा नहीं चाहता है वो तो संगच्छतम संवदध्वम की बात करता है हमें उपदेश देता है तो परमात्मा को ध्यान में रखते हुए उसकी आज्ञा के अनुरूप हम इस सृष्टि का पृथ्वी का जो भी उपभोग करेंगे जो भी उपयोग लेंगे वो सब परमात्मा की उपासना है एक साधक को या एक योगी को धार्मिक को संसार की वस्तुओं का उपयोग करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए संकोच उसे तब होना चाहिए जब ये भौतिक पदार्थ उसके लक्ष्य बनने लग जाए जब इन भौतिक पदार्थों का उपयोग परमात्मा की प्राप्ति के विपरीत जाने लगे तब उसे इन्हें छोड़ना चाहिए नहीं तो इनका उचित उपयोग हमें करना है और ये परमात्मा की ही उपासना है मंत्र में गर्भ शब्द का प्रयोग किया गया ग्री स्तुत धातु से भी बना है जो सबके द्वारा स्तुति योग्य होता है प्रशंसा के योग्य होता है उसे गर्भ कहते हैं जब किसी परिवार में गर्भ आता है सबको प्रसन्नता होती है एक नया प्राणी एक नया मनुष्य हमारे घर परिवार में आने वाला है गर्भ स्तुति के योग्य है प्रशंसा के योग्य है उसी से हमारा भी जन्म हुआ है और ये सृष्टि चल रही है और गृह निगरणय धातु से भी ये बनता है निरुक्तकार ने इसके लिए गिरती अनर्थान इतिवा करके एक दूसरा विग्रह किया है पहला का गृभेर गृणाती अर्थे गृणाती के अर्थ में है यानी स्तुति के अर्थ में और गिरति अनर्थान इति वा गिरति मतलब गिलती नाशयति अनर्थान इति वा जो अनर्थों का नाश करता है उसे गर्भ कहते हैं गलत चीजों को जो हटा देता है उसे गर्भ कहते हैं गर्भ में बच्चा बहुत सुरक्षित रहता है जो हानिकारक चीजें हैं उसको वो हटा करके अंदर जाने देता है ये तंत्र वहां पर बना हुआ है उसकी सीमा है लेकिन परमात्मा का तंत्र ऐसा है कि जिसके रहते हुए कोई हानिकारक बात हमारे को नहीं हो सकती ये जो मनुष्य का या प्राणियों का गर्भ है सुरक्षा व्यवस्था वहां भी है अनर्थक चीजों को वो भी हटाता है लेकिन उसकी अपनी सीमा होती है बहुत अधिक गलत चीजें ली जाएं तो बच्चे को भी हानि पहुंचती है लेकिन गर्भ की प्रवृत्ति यह होती है पहले वो गर्भ की रक्षा करता है बच्चे की मां की हानि होती हो तो हो जाए गर्भ की रक्षा पहले होती है उसकी स्थिति ऐसी है परमात्मा ने बनाया ही ऐसा है उसको तो ये परमपिता परमात्मा भी गर्भ के रूप में है वो अनर्थ को नष्ट कर देता है उसने ये व्यवस्था यहां पर बना रखी है कि अनर्थ नष्ट हो गए गलत चीजें नष्ट हो हानिकारक चीजें हट जाएं ऐसी परमात्मा ने व्यवस्था पदे पदे कर रखी है हमारे शरीर में कर रखी है पर्यावरण में कर रखी है हमारे परस्पर के व्यवहार में कर रखी है हमारे हृदय में परमात्मा ने सत्य की बात डाल रखी है सत्य की प्रियता हमारे अंदर है उचित न्याय की प्रियता हमारे अंदर है हम यदि एक तरफ खड़े हों तटस्थ और फिर दो के बीच में यदि कोई बात हो और हम देखें निर्णय करें तो सत्य का ही पक्ष लेंगे ये तो हम अपने स्वार्थ के कारण से उस सत्य को या न्याय को छोड़ करके एक पक्ष में चले जाते परमात्मा की व्यवस्था यही है अन्याय करते ही दूसरा प्रतिक्रिया करेगा अधर्म करते ही दूसरा टोक देगा ये व्यवस्थाएं परमात्मा के द्वारा बनी हुई है वो गर्भ के रूप में है और हिरण्य के कई अर्थ निरुक्तकार ने खोले हैं कि हिरण्यम कस्मात इसको हिरण्य क्यों कहते हैं इस मंत्र की व्याख्या निरुक्त में की गई है तो ह्रियते आयम्य मानम इति ये जो भौतिक स्वर्ण होता है वैसे उसको आग्नेय माना जाता है लेकिन ये जो स्थूल स्वर्ण है आयम्य मान मतलब तो जो उसको खींचा जाता है विस्तीर्यमाण जो है खेचा जाता हुआ लोगों के द्वारा ले आ जाता है यदि इसको सृष्टि के संदर्भ में लें ये सारा ब्रह्मांड जो खींचा जा रहा है फैलता जा रहा है आज के वैज्ञानिक बोलते हैं ये फैलता जा रहा है सारा विस्तीर्यमाण है और ऐसा लिया जाता है आगे कहा रियते जना जनम इतिवा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जो ले जाया जाता है जैसे स्वर्ण होता है मुद्राएं होती हैं एक से दूसरे में दूसरे से तीसरे में एक के बाद एक दूसरे के द्वारा पहुंचती है उसे हिरण्य कहते हैं ये परमात्मा भी ऐसा है ये एक के द्वारा दूसरे को जनाया जाता है एक परमात्मा को जानता है वो दूसरे को कहता है वो तीसरे को कहता है परमात्मा का स्मरण कराता है परमात्मा की बात बताता है वो हिरण्य रूप है परमात्मा और हित रमणम भवती वो हितकारी होता है और रमणीय होता है हिरण्य ही से हितकारी और र रमणीय जो हमें अच्छा लगता है प्रिय लगता है तो परमात्मा हितकारी है और रमणीय है रमण करने योग्य है उसमें हम ऐसे खो जाएं कि वहां से निकलने की इच्छा ना हो वहां से हटने की इच्छा ना हो ऐसा वो रमणीय है रमणीय स्थल स्थल उसको कहते हैं जहां जाकर के हम खो जाए हमें लगे कि नहीं हम यहीं रुके थोड़ा सा हम घूमने जाते हैं तो कहते हैं बड़ा रमणीय स्थल है हमें बहुत अच्छा लगता है इच्छा करती है कि यहीं रुक जाए इच्छा करती है कि यही मकान बन जाए हमारा हम यहीं रह जाए वो रमणीय होता है तो परमात्मा हितकर भी है और रमणीय भी है वो हिरण्य है जब हम इस तरह से अर्थ करेंगे तो हिरण्य गर्भ हिरण्य भी वही है और गर्भ भी वही है दोनों परमात्मा के लिए लगेंगे और अर्थ किया निरुक्तकार ने हृदय रमणम भवती हृदय में वो रमण करता है हृदय के लिए रमणीय होता है हरियतेर वा सियात प्रेक्षा कर्मणा जो हमारे लिए इच्छित होता है प्रिय होता है उसे हिरण्य कहते हैं इस धरती पर जो स्वर्ण है सोना है वो भी बहुत रमणीय होता है प्रिय होता है इच्छित होता है लोग उसके प्रति बहुत आकर्षण रखते हैं ऐसे ही वो परमात्मा भी है ये परमात्मा का स्वरूप इसमें बताया और आर्य परमात्मा को इतने व्यापक रूप से देखे कि सारा का सारा संसार उसमें विद्यमान है इसकी उत्पत्ति से पहले वो विद्यमान था और रक्षक के रूप में विद्यमान था आज भी वो हमारी रक्षा कर रहा है आज भी वो हमको धारण कर रहा है वही एक परमात्मा है जो हमारे लिए उपास्य है और इसी में हम सबका कल्याण है नहीं तो हमको पूर्ण सुख कभी नहीं हो सकता महर्षि चेता रहे हैं इससे चेतो मनुष्य जानो क्यों भ्रम में पड़े हुए हो परमात्मा के ठीक स्वरूप को जानो और उसकी यथावत उपासना करो जो ऐसा नहीं करता है वो सोया हुआ है जागा हुआ नहीं है आर्य जागा हुआ होता है जाग करके अपने जीवन को जी रहा होता है ये स्तुति यहां पर की गई परमात्मा की आर्यों के मन में ऐसी भावना जगे आप कुछ पूछ रहे थे पूछिए जीवात्माएं आत्माएं कहा और ये सृष्टि का जो कारण है प्रकृति साम्य अवस्था सत्य अवस्था साम्य अवस्था वाली प्रकृति वो कहा वो भी इस परमात्मा में ही थी देखिए इस वाक्य का ये अर्थ नहीं है कि मात्र परमात्मा ही था और कोई नहीं था ये इसका तात्पर्य हमें नहीं लेना चाहिए हिरण्य गर्भ वो रक्षक स्वरूप वाला धारण करने वाला तो एक ही था कमनीय तो एक ही था प्रकृति हमारे लिए उस समय कमनीय नहीं थी आकर्षण के योग्य नहीं थी और न वो हमारी रक्षा कर रही थी आत्माएं तो हम स्वयं हैं इस रचना से पहले सृष्टि बनने से पहले जो सत्वर स्तंभ थे उसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं था हम उसका कोई उपयोग नहीं ले सकते थे इसलिए वो हमारे लिए व्यर्थ जैसा था और न वो हमारे लिए कुछ हितकारी रूप में गतिशील थी क्रियाशील थी अन्य जो आत्माएं हैं वो भी थी परमात्मा में ही थी लेकिन जैसे अभी हम एक प्राणी दूसरे का सहयोग करते हैं ऐसा उस समय कोई सहयोग प्राप्त नहीं था कोई उपयोग नहीं हो सकता था इस मंत्र के अर्थ में भाष्य में महर्षि लिखते हैं सब आत्माएं मूर्छित जैसी थी उनको ज्ञान नहीं था कुछ भी हमें भी नहीं था और अन्य आत्माओं को भी नहीं था तो वो हमारे लिए रक्षक नहीं थी उस समय न तो प्रकृति और न अन्य आत्माएं लेकिन तब भी जिस समय ये सब सुप्त थे प्रकृति साम्य अवस्था में थी जीवात्माएं सुषुप्ति मूर्छित जैसी अवस्था में थी उस समय भी यदि हमारी कोई चिंता करने वाला था हमारा हमारी रक्षा करने वाला था तो वो एक ही था आज तो हमारे बहुत से रक्षक हैं परमात्मा जैसे नहीं लेकिन थोड़े थोड़ी रक्षा बहुत करते ही हैं और हम उससे बहुत प्रभावित रहते हैं लेकिन वो परमात्मा उस समय भी था और वो अकेला था और कोई नहीं था उसी ने ऐसी सारी व्यवस्थाएं की कि बाकी सब भी हमारे सहयोगी बन गए ठीक है एक इसका मंत्र का अर्थ कई जने करते हैं ऐसी संगति लगाते हैं कि आजकल सृष्टि की उत्पत्ति के लिए एक महाविस्फोट की परिकल्पना की जाती है बिग बैंग बहुत बड़ा विस्फोट किसी समय हुआ और उससे ये ये सब छिटके और फिर ग्रह नक्षत्र आदि बने आकाश गंगाएं बन गई एक सिद्धांत परिकल्पना आज एक प्रमुख परिकल्पना बनी हुई है सृष्टि की उत्पत्ति के लिए और कुछ लोग इस मंत्र को उससे जोड़ते हैं बोले हिरण्य गर्भ समवर्तता अग्रे पहले एक हिरण्य था हिरण्य गर्भ था आग का एक गोला था बहुत बड़ा एक ही था पूरा जितना भी जगत है वो सब एक ही आग का गोला था यद्यपि वैज्ञानिक मानते हैं पहले बहुत छोटा था और कुछ ही क्षण में विस्फोट हुआ और अनंत बहुत व्यापक बन गया बहुत विस्तार बन गया लेकिन पहले एक आग का गोला था बड़ा उसमें विस्फोट हुआ और इससे छिटक छिटक करके अलग अलग लोक लोकांतर बन गए उनसे भी छिटक छिटक के अलग अलग बन गए हम लोग पिछ, पिछली बार पहले यात्रा में जब अहमदाबाद में इसरो में गए थे डॉक्टर वर्मा जी भी थे उस समय और उन्होंने इसरो के एक वैज्ञानिक को भी वहां पर बुलाया था हमको दिखाने के लिए वो वैदिक परंपरा से कुछ जुड़े हुए थे ब्राह्मण परिवार के थे मंत्रों का उच्चारण उन्होंने सीखा था थे वैज्ञानिक वहां इसरो में प्रोफेसर के स्तर के मंत्र पाठ भी करते थे तो उन्होंने वो हमारे को समझा रहे थे उस समय तो समझाते समझाते उन्हें पता था कि ये लोग प्राचीन संस्कृति से जुड़े हैं और वेदों से जुड़े हैं तो बताते बताते जब ये सूर्य और इन सब की बातें आई तो उन्होंने इस मंत्र को बोला हिरण्य गर्भा समवर्तता अग्रे हमारे शास्त्रों में पहले से ये लिखा हुआ है तो बड़ा गोला था और भूत से जाता है का आशीत ये जो सूर्य है हिरण्य का गोला है इसको भी लिया उन्होंने यही हमारा पति है एक अगर सूर्य नहीं हो ये भौतिक सूर्य आग्नेय सूर्य तो इस सृष्टि नहीं चल सकती और यही इन सबको धारण कर रहा है लेकिन इस मंत्र में जो हिरण्य गर्भ है वो वो गोला नहीं है जो सृष्टि के पहले कोई बिग बैंग नाम का रहा होगा परिकल्पना जैसी है ये स्वयं परमात्मा है आज वैज्ञानिकों के बीच में एक विचार बना हुआ है ये सृष्टि चल कैसे रही है धारण कैसे हो रही है वो अनेक बलों की कल्पना करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल है और परमाणुओं का अंदर का बल है विद्युत चुंबकीय बल है लेकिन इन बलों को मानते हुए भी सृष्टि की का ये फैलाव जो मान रहे हैं विस्तार हो रहा है क्यों ये इस तरह व्यवस्थित चल रहा है आज भी अनुत्तरित प्रश्न है अभी की जो विज्ञान प्रगति आई है उसमें भी ये विषय उठाया हुआ है वैज्ञानिकों को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक वो विभिन्न बलों के भी कण की कल्पना कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के भी कण होने चाहिए इनके भी कण होने चाहिए जितने फोर्स हैं बल हैं उनके भी कण हैं परमाणु में कैसे संरचना है इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भाग बाहर चला जाता अंदर ही क्यों रहता है कब बाहर जाता है इसके विषय में उन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए हैं लेकिन फिर भी कुछ अनुत्तरित प्रश्न है जहां फिर परिकल्पना करके वो विभिन्न बलों को और मानते चले जा रहे हैं और ये कैसे धारण हो रहा है पूरी तरह से क्यों नहीं बिल्कुल अलग चला जाता है कब क्यों इकट्ठे हो जाते हैं ये इसका पूर्ण संतुष्टिजनक उत्तर आज के भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है उनके सामने प्रश्न है अभी भी खोज रहे हैं और उसके उत्तर में कुछ परिकल्पनाएं करते हैं वेद मंत्र क्या कहता है सदाधार पृथ्वीम द्याम उत इमाम जब तक परमात्मा को यह स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इसका कभी उत्तर नहीं आएगा पूर्ण उत्तर आ ही नहीं सकता जो भी परिकल्पना करेंगे प्रश्न खड़े मिलेंगे प्रश्न खड़े मिलेंगे बड़े बड़े वैज्ञानिकों पर प्रश्न आज भी खड़े हैं इस इस सिद्धांत को मानते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर यहां नहीं मिल पा रहा है फिर नए परिकल्पना करते हैं इस बार के जो नोबेल पुरस्कार भी मिले हैं उनमें भी यही बातें हैं कुछ वेद की दृष्टि निश्चित है परमात्मा ने निर्देश ठीक कर रखा है कि वो ही धारण कर रहा है परमात्मा तत्व को छोड़कर के यदि इस पृथ्वी के धारण की ब्रह्मांड के धारण की परिकल्पना करेंगे उसका पूर्ण उत्तर नहीं आ पाएगा कमी लगेगी समझ में नहीं आएगा ये हो कैसे रहा है ये चल कैसे रहा है आज भी उनके सामने ये प्रश्न है बिग बैंग थ्योरी को इतना मानते हैं लेकिन वो शुरुआत कैसे हुई इसका कोई उत्तर नहीं है उनके पास में वो खुद जानते हैं उन्हें पता है कि इसका उत्तर हमारे पास नहीं है शुरुआत कैसे हो गई है विस्फोट कैसे आ गया ऊर्जा कहां से आ गई प्रेरणा कहां से हो गई और ये इतनी व्यवस्थित कैसे बन गए वेद का तो उत्तर पहले से हम इसको ध्यान में रखते हुए इनके समाधान कर सकते हैं संतुष्ट हो सकते हैं पूरे जड़ पदार्थ अपने आप में सबको एक दूसरे को धारण नहीं कर सकता तो वेद का मंत्र है सदाधार पृथ्वी द्याम उत इमाम और कोई नहीं धारण कर रहा है जो जितने बल आदि हम धारण करते हुए देखते हैं वो भी परमात्मा की व्यवस्था में ही ये सब कर पा रहे हैं जड़ प्रकृति अपने आप ऐसा नहीं कर सकती हाँ जी कुछ कहना था ठीक है तो विक्रम जी आत्माओं की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता था परमात्मा उस समय रक्षा कर रहा था इस सृष्टि निर्माण के लिए पतित्व उसका तब भी था रक्षापना उसकी भी थी मैंने जो बात रखी थी वो ये कि इस सृष्टि के बनने से पूर्व भी रक्षा भाव परमात्मा में था और उस रक्षा भाव को पति भाव को रखते हुए ही उसने इस सृष्टि को बनाया सृष्टि बनाने के बाद तो रक्षा कर ही रहा है एक व्यक्ति ये सोच के चलता है कि मुझे इसकी व्यक्ति की रक्षा करनी है ऐसे ऐसे तो उस रक्षा के लिए जो मकान बनाता है उससे पहले उसके मन में रक्षा का भाव होता है वो योजना बना के चलता है ऐसे ऐसे इसकी रक्षा करनी है परिवार में बच्चा जन्म लेता है उससे पहले उसके लिए वस्त्र आदि सब चीजें पलंग आदि जो भी व्यवस्थाएं वो पहले से जो तैयार की जाती है वो रक्षा का भाव है प्रलय अवस्था में भी परमात्मा में हमारे लिए रक्षा का भाव था हमारी रक्षा के लिए ही वो सब कुछ कर रहा है इसलिए परमात्मा का नाम ओम है अवरक्षण धातु से तो आपका प्रश्न यह है कि प्रलय अवस्था में तो आत्मा थी अपने आप में और उसको ना कोई जला सकता है ना काट सकता है तो वहां वो क्या रक्षा कर रहा था ये बात तो सृष्टि काल में भी है सृष्टि काल में आत्मा को कोई जला सकता हो भिगा सकता हो वो नहीं है यहां भी नहीं कर सकता लेकिन जैसे यहां रक्षा घटित होती है विभिन्न रूपों में इस रूप में वहां नहीं थी लेकिन योजना परमात्मा की सारी यही थी वो रक्षक रूप में ही था तब भी हमारा कर कुछ नहीं रहा था हमारे लिए जीव आत्मा तो सुषुप्ति में थी उनको कोई जन्म नहीं दे रहा था प्रलयावस्था में इस अर्थ में ही लेना होगा ठीक है बोलिए तो अलग अलग कहीं भी रह सकते हैं उसका कोई विषय नहीं है और उसको सीधा अभी इस बिंदु से न जोड़ें इसको हम बाद में चर्चा कर लें कभी शंका समाधान में सायकाल मंत्र में जो बात है वो परमात्मा के रक्षक के रूप में है और वो अकेला रक्षक था और सबका वो अकेला ही एक ही रक्षक है ये भाव आगे के मन में रहे परमात्मा को बहुत व्यापक रक्षक मानते हुए और उसमें अपने को भी एक अंश में मानते हुए और छोटा सा और बहुत एक इतने सब जीवात्माओं के बीच में मैं एक छोटा सा मैं भी हूं जिसकी वो परमात्मा रक्षा कर रहा है अनंत रक्षाओं से युक्त परमात्मा को हम मन में रख सकें उसकी भक्ति उपासना कर सकें ये इस मंत्र का भाव है महर्षि ने इस ढंग से इसका अर्थ किया है प्रणाम ओ